गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगे सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् नमामि नीला भुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवान् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् मनो उज्जवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणम् यस्य प्रसारहमे विष्णुः मय्येव सर्वं परिकरोत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यां द्विपद्मं प्रणतो अथ श्री हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुभाई रघु रघुवर जोदा बुद्धिहीन तनु जान के कुमार बल बुद्धि विद्या कले सविकार जय

हरे ओम हरे ओम आप सब लोगों को सर्वप्रथम रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी दो दिन पूर्व भगवान श्री राम जी के हम लोगों ने अवतरण के प्राकट्य के दिन का यहाँ पर भी बड़े हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया और अभी दो चार दिन बाद हमारे बजरंग बली जी का भी जन्मदिन है जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ पर प्रतिमास ये सत्संग कर रहे हैं जिनकी महिमा का गुणगान गाते हैं जिनसे हम लोग जीवन के हर पहलू में प्रेरणा लेते हैं ऐसे हमारे भगवान श्री राम के अनुरागी महादेव स्वरूप ज्ञान के धाम शक्ति के धाम भक्ति के धाम सब चीज के भाव ऐसे हमारे हनुमान जी का अवतरण का दिन आ रहा है तो उस दिन भी हम सोच रहे हैं यहाँ पे कोई विशेष कार्यक्रम बनाए और आप लोगों से भी बाद में हमको राय लेनी है सब भगवान हनुमान जी के खूब चरण के अनुरागी भक्त लोग हैं और आज के दिन हम विशेष रूप से या हमारी जो दास बगीची की मंडली है उसको तो बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं ये कार्यक्रम यहाँ पे नियमित रूप से चल रहा है ये सब श्रेय जो है हनुमान जी के ही भक्त लोगों का है हम तो ये देखते हैं हनुमान जी ने चाबी भरी हुई अब यहाँ पर जो है बाकी अनेकों अच्छे भक्त हैं आते रहते हैं लेकिन स्तंभ जो है ना वो यही लोग हैं तो सब लोग को जिनको पुण्य मिल रहा है ये सब सत्संग का उनका एक अंश सब आप लोगों को जा रहा है हाँ? इतनी बड़ी कृपा हो रही है पिछले महीने हम लोग हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे के ऊपर विचार कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने देखा कि राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुतनामा हनुमान जी राम जी के दूत हैं उनका जीवन ही केवल राम जी के दूत बनना है अपनी कोई अस्मिता नहीं अपनी कोई पृथक पहचान नहीं उनकी पहचान ही है कि हम राम जी के दूत हैं सामान्यतः हम लोग अपनी कुछ पहचान रखते हैं और पहचान रखने के उपरांत फिर भगवान का भी श्रद्धा बनाए रखते हैं उनका आशीर्वाद हम लेने की कोशिशें करते हैं और अपने जीवन की गाड़ी चलाते हैं हनुमान जी का जीवन दर्शन बहुत ही अलग है वो बोलते हैं कि नहीं हमारा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हम तो राम जी के ही दूत हैं यह हमारा जीवन है हम लोगों ने इस शब्द के ऊपर खूब चिंतन करा था राम दूत अतुलित बलधामा कोई तुलना नहीं है कोई हम इमेजिन नहीं कर सकते कोई इसका स्वामी नहीं है कोई दूसरा ऐसा दृष्टांत नहीं है उसको होता है अतुलित अतुल्य बाकी सब लोग को प्रणाम है जब भी भगवान के कोई भजन करता है उन लोगों को वंदना है थोड़ी भी भक्ति होती है हमारे गोस्वामी जी तो जब रामायण लिखते हैं तो दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं हाँ? इसीलिए जो आदमी दुष्ट हो असुर लोग हो उनको भी प्रणाम करते हैं बोलते हैं भाई इन्होंने भी योगदान दिया है भैया इन्होंने योगदान ये दिया है कि हमको भगवान की भक्ति का ज्ञान की महिमा और पता लगी है हमको क्या नहीं करना चाहिए ये तो जी के दिखा रहे हैं भैया बोलो हाँ? कि ये करोगे तो रगड़ा होगा मुसीबत होगी थैंक यू वेरी मच आपने इस प्रकार से हमको दृष्टांत दे दिया हर चीजें कुछ आग में हाथ डालने के बाद ही थोड़ी सीखा जाता है कि जलती है हाँ? तत्ता बहुत जल रहा है बोलते <laughs> भैया ऐसे सब लोग जो दुष्ट हैं वो खुद ही अपने असली मूल्यों के वजह से बहुत यहाँ पे तड़प रहे हैं दुखी हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी हम्म, इसीलिए सबको प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं अर्जुन चतुर विवाह भजन के माप चार प्रकार के लोग हैं बचते हैं एक तो ज्ञानी है वो तो पूरे हमसे एक हो चुके हैं हमारे तत्व का ज्ञान हो चुका है हम क्या होते हैं उनको पता लग गया है इसीलिए बचते हैं और उनमें हमें कोई फर्क नहीं होता है ज्ञानी तो आत्मय तो मे मतम वो तो हमारी आत्मा है इसीलिए दूरी नहीं रहेगी हम भी किसी से प्रेम करते हैं बोलते हैं भाई तुम तो हमारे प्राण हो किसी का पुत्र किसी की संतान बोलते तुम तो बेटा हमारे अंश हो और भगवान बोलते हैं कि भक्त तो हमारी आत्मा है बाकी भी दूसरे भक्त हैं इतनी ज्यादा भक्ति तो नहीं करते हैं भगवान के पास जो है वह जब कोई काम होता है तो हाँ? जिस समय काम होता है फटाफट इसीलिए सीजन चलते हैं मंदिरों में एग्जाम हाँ? के सीजन होते हैं इलेक्शन के सीजन होते हैं उन दिनों मंदिर में बड़ी चांदी होती है हमारे पंडित लोग भी जो है वह साल भर की कमाई करते हैं कि जहां पर ऐसा सीजन आया चलो इतना तो अच्छा देखिए भगवान के बड़प्पन जानते हैं कि मतलब ही यार है जिस समय मतलब निकल जाता है तो पहचानते नहीं तो वो भी बात सही है लेकिन तो भी ये तो भगवान का बड़प्पन है कि उनको भी भक्तों की लाइन में खड़ा कर दे चतुर्विधा भजनते बाप चार प्रकार के लोग हमको भज रहे भैया अब ये मत पूछना ये क्यों भज रहे वो हमारे उनकी बीच में आपस की सीक्रेट है हाँ? लेकिन बस तो रहना ये तो ये अनेकों प्रकार के लोग हैं भजते हैं इसीलिए हम लोग बहुत सारे भक्तों से प्रेरणा लेते हैं अच्छे लोगों का लक्षण है कि हम अच्छाई देखें बहुत सारी कमियां हैं अभी हमारे पास एक फेसबुक पे एक किसी ने पोस्ट भेज एक वाक्य था उसमें पैराग्राफ था उसमें प्रत्येक शब्द गलत कोई भी उसमें शब्द सही नहीं था और उसने बोला ये पढ़ो अब हम अंदाज लगा के यदि पढ़ लेता है हम्म। अब दिस लिखा हुआ है तो दिस में आई इधर हो गया इस इधर हो गया समझ गया गलती हो गई होगी दिस ही लिखा है उसमें हाँ। तो ये सब चीजें पूरा का पूरा गलत और बाद में बोलता है कि भाई देखा आपने आपने पढ़ लिया ना बोला हाँ इसमें क्या बात तुम क्या बताना चाहते हो बोलते हम बताना ये चाहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति में भी दोष होते हैं जब नजरें सुंदर हो ना वो उसमें अच्छी चीज पढ़ी लेते हैं बोलो श्याम रामचंद्र की जय किसके अंदर कमियां नहीं होती हैं किसके अंदर दोष नहीं होते हैं जब आप वाक्य भी पढ़ लेते हो समझ जाते हो और आगे अपने रास्ते के लिए निकल जाते हो तो यहां पर भी रहने दो यार दुनिया भर की कमियां है अच्छा ही देखे ना भले मतलब से आया है लेकिन भगवान के लिए उसके हृदय में स्थान है उसके हृदय में उनके प्रति महत्व विद्यमान है कुछ तो हृदय में जहां पे दुनिया भर के मकड़े जाले वगैरह सब लगे हुए हैं भगवान भी उस हृदय में विद्यमान और भगवान को कोई हृदय में थोड़ा सा रख ले तो भगवान अपनी जगह खुद बनाते इसको संस्कृत में बोलते हैं पाद प्रसारण न्याय आपने सुना पाद प्रसारण न्याय तो एक बाबा जी बता रहे थे कि भैया तुम भगवान को थोड़ा सा स्थान दे दो अपने हृदय में बैठने के लिए बाकी वो पसंद जाए हाँ? उनको एक कदम दो सुना है वो जो अपने राजा बली और क्या नाम वामन अवतार तो वामन अवतार वो शब्द स्लिप हो रहा था हमारे को तो वामन अवतार भगवान का जो था वो उन्होंने देखे तीन कदम मांगे थे सब लपेट लिया उसी ने तीन कदम तो बालाजी सबको बता रहे थे कि भैया ऐसा है थोड़ा सा भगवान का स्थान दो बड़े मतलब से जाओ भजन करो प्रणाम कराओ मंदिर में दर्शन कराओ सवेरे अगरबत्ती लगा लिया करो हाँ, पूरा वाक्य भी नहीं श्लोक भी नहीं आता भजन भी नहीं आता चलेगा थोड़ा तो करो है? हाँ? तो उसने बाबा जी ये बात जमी नहीं कोई समझ में नहीं आया उसे तो इतने लोग ज्ञानी वानी करते हैं पढ़ते हैं तपस्या करते हैं तब भगवान जाके मिलते हैं हम लोग इतने से कैसे हो जाएगा तो बाबा जी बोलते हैं बताएंगे बेटा तुमको तो हम भिक्षुक आदमी हैं एक दिन हम उधर तुम्हारे वहां आएंगे मोहल्ले में बता देंगे तो ऐसे समय गए उनके घर में जब वो सज्जन बाहर गए हुए तो घर में वहां माता जी बाइया सब थी बच्चे लोग थे तो बाबा जी ने जाके माता भिक्षा दे ही माता जी भिक्षा दो बाबा जी आए हैं कुछ भोजन वोजन कुछ तो बोला तो बाबा जी आप देखिए आगे बड़ा अच्छा हुआ बिल्कुल भोजन उतर ही रहा है गर्म गर्म बन रहा है आप यहां से डाल लो अभी हम आपको थाली गर्म बन बहुत अच्छे लोग हैं उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी सबको आशीर्वाद के लिए वहां पे बैठे तो जब बैठे वहां पे बरांडे में माता जी इतराज हो तो ये पंखा बड़ा यहाँ वहां बैठ जाए अरे बाबा जी वहां बैठो उसमें क्या है तो पंखा था वहां बैठ गए थोड़ा घर के अंदर उसके हम्म, अंदर था वो तो वहां उन्होंने भोजन भोजन खाया और उसके उपरांत एक और रोटी एक और रोटी एक लड्डू और और एक गुलाब जामुन और और खूब प्यार से खिला बहुत श्रद्धा से तो जिस समय भोजन हो गया तो उसके बाद अनुभव जी और कुछ मतलब बस बहुत अच्छा अब इतना माता जी खिलाया है वहां भाग गया जो तो थोड़ा पसर ले यहाँ पे थोड़ा सा बैठ खिला लें अब ऐसा तो है यार जब बाटी वाटी हमारे मालवा की कोई खाए दो चार तो, तो थोड़ा सा खाने का ही कोर्स होता है हम्म, कि थोड़ा आराम करना पड़ता है तभी गाड़ी आगे चलती है बना बाबा जी जरूर जरूर तो बाबा जी ने बोला माता जी ये तो रस्ते में बरामदे में हम लेटे हैं तो अच्छा नहीं लगता बोलो तो अंदर अब धीमे धीमे वो अंदर के कमर पहुंच गए हम्म। और अंदर जिस समय कमरे में पहुंचे तो किसी ने बोला कि बाबा जी कूलर लगा हुआ है वहां पे तो इसकी हवा यहाँ आ रही होगी बोलते हैं आप हाँ, बोलो तो कूलर किस रूप लेते हैं इतराज तो नहीं है बाबा जी आप बड़े देवता पुरुष हैं आप अंदर लेट रहे तो कमरे के अंदर लेट रहे आज वो कूलर में आराम से भोजन भोजन करके भिक्षा लेके कमरे के अंदर अब बाबा हो तो कोई तनाव से तो युक्त होते नहीं सोते भी हैं तो घोड़े बेच के सोते हैं आराम से दिल खोल के मस्ती से सोए और शाम को जो है सब दुकान से और सब ऑफिस से घर के अनेक अनेक लोग आने लगे जब आने लगे चुप रहो चुप रहो सो रहे हैं बोलो कौन आ गया भाई सो रहे हैं यहाँ पे बताया नहीं कोई मेहमान आने वाले थे क्या तुम्हारे मैके से आए बोला अरे मैके वैसे नहीं आए बाबा जी कोई भिक्षुक नहीं अंदर घुसे लिया भाई बाबा लोग हैं ठीक है उनको अपना स्थान पे भोजन खिला देते और ठीक है नमस्कार करते आशीर्वाद लेते अब बोलते अब क्या बताएं बताएंगे तुमको पूरी घटना बाद में है? अभी तो चुप रहो अब बाबा जी उठने का नाम ही नहीं बड़ी मुसीबत होगी यार बाबा जी बवाल हो गए तो जहां पर काफी समय हो गया तो घर के अंदर टेंशन का वातावरण हो गया तो बाबा जी ने मन मन समझा अब सत्संग का उचित समय है <laughs> घर के सब लोगों को बुलाया बुला समझ लो हम जान रहे हैं तुम्हारा शकल ही बता रही है कि सब चिंतित हो कहा बाबा जी को बुला लिया और कहा घर के अंदर जो है पड़े सो रहे हैं कूलर में आराम से बाहर के लोग पानी भरते जा रहे हैं बाबा जी उठ नहीं रहे कूलर दो बार सूख चुका है हाँ। तो अब ऐसी स्थिति हो गई थी तो बोला देखो भाई अभी दो दिन पहले सेठ जी आए थे सत्संग में और हम उनको समझा रहे थे कि पाद प्रसारण न्याय हम उसका जीता जाता दृष्टांत दे रहे हैं समझे कि नहीं <laughs> बाबा जी नहीं समझे अभी भी नहीं समझे <laughs> कल फिर नहीं क्या <laughs> बोलते हैं महाराज जी थोड़ा स्पष्ट कर दो बोलते देखो यहाँ पे माता जी ने घर में घर की गृहणियों ने इतनी श्रद्धा भक्ति से सेवा जो करी है तभी तो हमको अधिकार मिलाना कि हम थोड़ा अंदर बैठ जाए उनकी सेवा श्रद्धा से ही तो हमारे भी अंदर भावना जगती थी आत्मीयता जगती थी जहां पे कोई आदमी थोड़ी इसी भक्ति से भगवान को थोड़ा हृदय में स्थान दे देता है अपने आप फैलते तो वामन अवतार है ध्यान रखना वामन की कथा तीसरा कदम रखने की जगह ही नहीं बची वामन अवतार पूछते हैं कि भैया तीसरा कदम कहां रखें पहले कदम में तो दुनिया आ गई दूसरे कदम में परलोक आ गया वो तो तीसरा कहाँ रखूं बेटा तो तीसरा करने के लिए उनके ऊपर रखा गया उनका अहंकार अभिमान खत्म कर थोड़ा भी कोई भजन करता है तो बहुत बड़ी बात है लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति है वो तो अद्भुत है प्रेरणा के स्रोत है इसीलिए रामायण का ये प्रसंग सुंदर कांड है जो आप लोग पढ़ते भी हैं दुनिया को भी पढ़ाते हैं सुनाते हैं सब लोगों का पुण्य उदित करते हैं सुंदर कांड की सुंदरता ही तो है ना कि जहां पे हनुमान जी से पूरी कथा विद्यमान है तो वो हनुमान जी उनका हम लोग यहाँ पे देख रहे थे और उनकी अस्मिता केवल यही है कि हम राम जी के दूत कोई अपनी पहचान नहीं और इसी प्रसंग में एक बहुत यहां सुंदर चीज हम लोग देखते हैं कि गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो भैया आप लोग हनुमान जी की महिमा जानते हैं कृपा जानते हैं उनका आशीर्वाद उनकी भक्ति उनकी तपस्या उनका बल ये सब जानते हैं कार्य को देख के तो सुंदर जो है बिजली चमकती है तो उसको देख के तो सब चक्का चांद होते हैं लेकिन बुद्धिमान आदमी कारण में जाता है कारण क्या है भगवान जी की मान्यता ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण केवल अपना पुरुषार्थ नहीं होता है हर व्यक्ति के जीवन में आप जो भी है ना उसमें दो चीजें होती आपका पुरुषार्थ भी होता है और आपके ऊपर कृपा होती है हम्म? हर व्यक्ति एक मूर्ति की तरीके से है जिसको किसी एक शिल्पी ने अच्छी तरह तराश के बनाया है हनुमान जी के ऊपर कितने लोगों ने कार्य करा है वो इस एक चौपाई के अंदर संकेत है बोलते हैं जो आदमी भी हनुमान जी की महिमा को जानता है वो सदैव अंजनी पुत्र पवन सुत नामा इस चौपाई की महिमा को बहुत गहराई से समझ रहा है यह बहुत आवश्यक होता है कि हम लोग माता का पिताजी का परिवार का इसका कृपा देखें इसका आशीर्वाद देखें उस समय हमारे अंदर तो बहुत चेतना नहीं होती है हम लोग तो अपने बचपन में किसने हमको पैदा करा बड़ा करा संवारा लालन पोषण करा संस्कारित करा शिक्षा दी पता भी नहीं रहता है लेकिन ये कितने लोगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है इसीलिए एक सात्विक व्यक्ति धन्य रहता है धन्यता से प्रारंभ होता है अच्छाई का वृक्ष अगर अच्छाई एक वृक्ष की तरह से है वो केवल धन्यता के वातावरण में ही पनपती है और वो तब पनपे जिस समय हमारा जिसने लालन पोषण कराया ना वहां से ही और सबसे पहले हमारे तैतरी उपनिषद में कहते हैं मातृ देवो भवा पितृदेवो भवा ये तैतरी उपनिषद का है यजुर्वेद के अंतर्गत यजुर्वेद के अंतर तैतरी उपनिषद की शाखा है उसके अंदर ये प्रसिद्ध मंत्र जग प्रसिद्ध है आचार्य देवो भव तीसरा नंबर पे और चौथे नंबर पे अतिथि देवो भव आपके घर में कोई आ जाए ऐसे संस्कारी व्यक्ति ऐसे महान देश के अंतर्गत के जो लोग होते हैं कोई भी आ जाए वो भी क्या याद रखेगा ऐसी आत्मीयता और प्रेम से उसका सेवा करेगा भगवान का उनको रूप देखते हुए लेकिन सबसे पहली चीज मातृदेवो भव है पितृदेवो भव दूसरा है मां का योगदान हमारे जीवन में इतना अद्भुत होता है वेद चर्चा करते हैं हमारे अनेकों कथाएं चर्चा करती हैं इसीलिए किसी की भी महानता के जिस समय स्मरण करें और खासकर ऐसे हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व जैसे किसी एक कलाकार में बहुत फुर्सत में तराशा है उसको उनका स्मरण करने के लिए उनकी मां का और उनके पिता का योगदान कभी नहीं होना चाहिए अगर आपने हनुमान जी का स्मरण करते समय भजन करते समय उनकी माँ को एक बार भी प्रणाम नहीं करा बोल तो गए लेकिन ध्यान ही नहीं दिया क्या बोल रहे अब अनेकों लोग हम भी देखते हैं हम भी बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और ज्यादातर हमने देखा है कि नाते समय पढ़ते हैं और वो पहाड़ों में जो है ना वो यात्रा के समय पढ़ते उसने भैया कितने दूर और मंदिर बोलते हैं तीन हनुमान चालीसा लगे तीन हनुमान चालीसा ये कितना हुआ भैया हाँ? न मील न कोस न गज उसने तीन हनुमान चालीसा बहुत पहुंच जाओगे भैया लेकिन ये नहीं है कि सुपर फास्ट स्पीड से जाओ नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल स्पीड से पाठ करो तो हनुमान चालीसा पहुंच जाओ अब ऐसे लोग जिस तरह पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण है हम क्या बोल रहे हैं थोड़ी पता रहता है एक सज्जन यहां आते हैं जहां बाथरूम में गए हनुमान चालीसा चालू हो जाती है और उनकी हनुमान चालीसा की टोन मौसम से बदलती है जब पानी बहुत ठंडा हो हनुमान ज्ञान को सरसे पता लग गया बहुत ठंडा पानी था वहां पे कौन ध्यान रखे कि हमने ये बोला है अंजनी पुत्र पवन सुतना महत्वपूर्ण वाक्य बहुत ध्यान देने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान स्वरूप भगवत स्वरूप जिनको राम जी ने इस कलयुग में दर्शन दिए हनुमान जी उनको पकड़ कर ले गए पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे बोला वो आए तुलसीदास चंदन घिसे तिलक भी ऐसे तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण जैसी अमर एक रचना लिखी इतनी महान रचना जो कि ज्यादा तो बोलना नहीं चाहिए छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण भी उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी यहाँ गुरुस्वामी तुलसीदास जी की ऐसा जनमानस के ऊपर इतना अद्भुत प्रभाव डाला है उसने वो गोस्वामी जी बोलते हैं कि भैया हनुमान जी की महिमा समझना होना तो उनकी माता जी का योगदान कभी मत भूलना हम तो शुरुआत में ही हनुमान चालीसा के प्रारंभ में हनुमान जी की वंदना करने के प्रारंभ में ही कहते हैं ये अंजनी पुत्र हैं और हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं हम बहुत सोच समझ के गए हैं हमको उनकी कथा पता है हमको उनकी तपस्या याद आती है उनके पुत्र नहीं हो रहा था कैसे मतंग ऋषि जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया यही एकमात्र धुन लगी हुई थी कि ऐसे पुत्र को हम जन्म दें एक ऐसा व्यक्ति यहां पे हमारे माध्यम से इस दुनिया में आए और इतना ही नहीं वहां पे जाके जो घोर तपस्या करी है उन्होंने उनका एक एक रोया शरीर का ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जैसे संकल्प कर रहा था प्रार्थना कर रहा था इतनी परम पवित्र यद्यपि ये तो भगवान की कृपा है कि उनको एक वानरी का श्राप मिला हुआ था और वो बड़ी महान पुण्यात्मा थी और वो भी एक लोगों को हम सब लोगों के ऊपर आशीर्वाद हो गया कि ऐसी एक माता जी थी उनकी बहुत पुण्यात्मा उन्होंने ठान दी थी कि ऐसे ही पुत्र को जन्म देंगे व्यक्ति बच्चा आया भी नहीं है दुनिया में लेकिन मां का हृदय मां का संकल्प मां की एकदम प्राण एक एक सांस न खाना न पीना सब गौण है ऐसा कलाकार जिसके अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व के निर्माण का स्पष्टता ही नहीं तीव्र प्रेरणा है और उसके उपरांत उनके पिताजी भी हम्म, पवन देवता भी कैसे निमित्त बने थे ये सब कथा हम लोगों ने पिछली बार देखी थी इसीलिए हम बहुत ज्यादा तो उसको दोबारा नहीं बताएंगे लेकिन बस प्रसंग जोड़ रहे हैं एक महीने के सत्संग के एक महीने के अंतराल के बाद सत्संग में कुछ थोड़ा सा हमको पुराना रिपीट करना पड़ता है तो ये चीज जो है हमको प्रसंग लगता भी बहुत महत्वपूर्ण है आप सब लोगों का जीवन आपकी तपस्या आपके संकल्प से मेहनत से बहुत कुछ करते हैं लेकिन जब कोई व्यक्ति इतना सुंदर रहता है तो हमको गहराई तक दिखाई पड़ता है इसके माता पिता का कैसा संरक्षण रहा है कैसा आशीर्वाद रहा है कैसी प्रेरणा रही है तभी जाके इस कलयुग में जहां पे अनेक अनेक विकार और विक्षेपों की संभावना है इस दुनिया में आदमी यहां भगवान के चरणों में भंवरे की तरह लग सकता है बहुत बड़ी बात है तो वो योगदान अंजनी माता जी का बारह साल तक तपस्या के उन्होंने बोला जाओ फलानी जगह वो पंपा सरोवर के पास वो नारायण तीर्थ है वो पहाड़ है वहां माता जी रहो वहां तक हो अगर ऐसे बच्चे के ऐसे व्यक्तित्व को दुनिया में लाने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा तो हनुमान जी ने तो मेहनत बाद में करी हनुमान जी ने तो आने के उपरांत सूर्य देवता के पास जाके उनको भी जो है शिक्षा ली उनके भी चिर स्मरणीय हाँ, अनुभूतियां रही उनके साथ क्या क्या पंगे लिए जिसके जिसके साथ रहे वो कभी नहीं भूला हाँ, भले जंगल के अंदर अनेकों ऋषि मुनि लोग थे वो भी नहीं भूले बोला भैया संभालो इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं उन्होंने तो जो मेहनत भी करी जो जीवन तथा का परिचय भी दिया वो सब बहुत ही अच्छी बात है उसमें तो हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करनी चाहिए लेकिन जो योगदान उनको तराशने वाला पहले था उनकी माता जी उनको बार बार वंदन है शत शत नमन है वो ही असली कारण थी ऐसे व्यक्ति को निर्माण करने के लिए दुनिया में लाने के लिए हम लोग के शास्त्र जो है इस चीज के लिए सर्वसम्मति से बताते हैं देखो व्यक्ति कौन आता है वो माता पिता के संस्कार प्रेरणा आदि के ऊपर निर्भर करता है जो प्रारंभिक हमको बैंक बैलेंस मिलता है वो सब किसी के द्वारा दिया होता है जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो जमीन के ही कितने जो है वह उपजाऊता है उसके अंदर उन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है और किस प्रकार का बीज है अब आजकल किसान लोग देखते हैं ना बीज सही होना चाहिए भैया नहीं तो पूरी खेती करी और पता लगा है झटके में उत्पन्न ही नहीं हुआ सब कुछ जितना होना चाहिए तो बीज का अच्छा होना भूमि का अच्छा होना वहां पे किसान का प्रारंभ में लालन पोषण होना हम किसी के महान व्यक्तित्व के चक्कर में इन चीजों को कभी न भूलें कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को भूलता नहीं है यही यहां पे प्रयोजन है बोलने का कि ये अंजनी पुत्र भवन सुत नामा इनका नाम है ये दोनों नाम इनके हैं देखिए हम लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं यहाँ पे गोस्वामी जी ने हमको नाम दिया है ये नाम दान दिया है अगर हनुमान जी का पहले चौपाई में भी कुछ नाम दिए हैं एक से एक सुंदर नाम है और ये उनका बहुत सुंदर नाम है यहाँ और शब्द जो है अनेकों व्याख्याकार लोग बड़ी चर्चा करते हैं बोलते हैं देखो भाई जो लोग भी नाम लेते हैं ना अपने गुरु लोगों से संतों से नाम की बड़ी महिमा होती है नाम ही हमारी ऊर्जा को दिशा देता है मंत्र जब करते हैं वो केवल नाम की ही तो आवृत्ति होती है किसी एक नाम को लेके ही हृदय में उसका जप करा जाता है बड़ी महिमा होती है नाम की और ये बहुत सुंदर नाम है अंजनी पुत्र पवन सूत्र और जिस समय नाम होते हैं इनको मंत्र कहा जाता है नाम तो लोकल भाषा में कहते हैं लेकिन यही संस्कृत में हम लोग इसको मंत्र कहते हैं नाम मंत्र बन जाता है तभी उसको दीक्षा दी जाती है राम जी का नाम अगर मंत्र हो जाता है तो उसमें कोई विशेष बात हो जाती है तब मंत्र बन जाता है संस्कृत में मंत्र शब्द का मतलब होता है कि मननात त्रायते इति मंत्र जिसके मनन से चिंतन से स्मरण से आपको प्रेरणा मिलती है आप तर जाते हैं अनेकों कष्ट आते हैं आपको बल मिल जाता है अनेकों विक्षेप आते हैं आपको राह मिल जाती है अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अंदर इस प्रकार के बीज विद्यमान है तो वो ही शब्द नाम हो जाते हैं मंत्र हो जाते हैं और यहां हमको गोस्वामी जी बोलते हैं कि भैया हमारी राय मानो हम्म। अंजनी पुत्र और पवन सुत ये दोनों इतने सार गर्भित नाम है हनुमान जी के कि सबसे पहले अगर हम उसकी चर्चा करते हैं पहली बार हम चर्चा कर रहे हैं अभी तो हनुमान चालीसा पूरी बची हुई है लेकिन हम प्रारंभ कर रहे हैं नाम अगर है ना किसी चीज को हम ऐसा मंत्र का स्थान दे रहे हैं तो उनके इस नाम को दे रहे हैं अंजलि पुत्र पवन और यहां हम लोग के पास बड़ी फुर्सत है इसीलिए हम लोग काफी फुर्सत से विचार कर रहे हैं इन सब चीजों पर और ये हमने एजेंडा रखा है हमसे पूछा ना गुरु जी इस स्पीड से आप चलते गए तो बुढ़ा जाओगे आप हमारे पहले सब पूरी नहीं हो रही बोला वैसे बुढ़ा तो चुके ही हैं भैया ऐसी कोई बात नहीं है और मरते दम तक यही करते रहे तो क्या बुरा है उसमें हाँ? हमारा कोई एजेंडा नहीं अरे भैया यहाँ पे तो हमारे पास ऐसे भक्त लोग हैं जो प्रतिदिन पाठ करते हैं जन जन के हृदय में यही दीप जलाते हैं हनुमान चालीसा के पाठ में कोई कमी थोड़ी है हम भी पढ़ते रहते हैं और बाकी सब भी पढ़ते रहते हैं लेकिन ये हम लोगों का मौका है अर्थ समझने का एक एक शब्द के अंदर डुबकी मारने का बोलते हैं आप बाल की खाल निकालते हैं महाराज जी बोला बाल की खाल निकालते हैं कुछ भी करते हैं लेकिन इसी से ही मकरंद मिलता है अभी हम लोग का एक शिविर था उसमें एक वेदांत का ग्रंथ था उसका नाम था अद्वैत मकरंद बड़ा अच्छा था तो उसमें मकरंद शब्द पे विचार कर रहे थे बोलते देखो एक फूल होता है ना फूल की सुंदरता होती है रूप होता है रंग होता है उसकी खुशबू होती है हम्म। लेकिन फूल की एक सबसे खास चीज होती है जो कि रूप देखने वाले रंग देखने वाले माला बनाने वाले लोग नहीं जानते वो केवल जाती मधुमक्खी मधुमक्खी न फूल तोड़ती है न फूल को जो है वह रूप ही मात्र देखती है फूल के अंदर जाके मकरंद निकालती जैसे कि फूल वैसे एक शहर निकालना पड़ता है वैसे ही मंत्रों से मकरंद निकालना पड़ता है अमृत निकालना पड़ता है और अमृत केवल चिंतन से और यही तो हम लोगों के गुरु लोगों का संत लोगों का काम होता है तो ये चीज ही हम लोग का यहां पे ऑब्जेक्टिव है इसीलिए हमारे अंदर भी फकीरी है और हमारे मंडली में भी फकीरी फकीरी है <laughs> तो ऐसे ही रस में हम लोग रमते हैं कि इसके एक एक शब्द में गहराई में डुबकी मारते हुए मकरंद का पाते अंजलि पुत्र पदम सुतना बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही सुंदर अंजलि मां का हम हनुमान जी के ऊपर कृपा का स्मरण करते हैं कैसी महान तपस्विनी थी पुण्यात्मा थी तभी जाके ऐसा संतान होती है ये हम लोगों को बच्चों के लालन पोषण के लिए भी ये सब चीजें प्रेरणा देती है केवल हम बाद में पढ़ लेंगे बाद में ये कर लेंगे और अच्छे स्कूल में भेज देंगे बचपना मत रखो बहुत सारे लोग अच्छे स्कूल में जाते हैं बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई कर लेते हैं अभी जो आतंकवादी लोगों ने अपना हवाई जहाज लेके बढ़ा दिया ना जाके और अभी एक और जर्मन हवाई जहाज स्विट्जरलैंड में जाके उनका पता नहीं दिमाग का संतुलन बेचारे का रोगी था क्या था डेढ़ सौ आदमी पढ़ा लिखा पढ़े लिखे की ज्यादा वो चिंता मत करना ये पढ़ा लिखा था अमेरिका के ट्विन टावर्स में जिन्होंने हवाई जहाज आगे उड़ा दे बड़े पढ़े लिखे लोग एक इंजीनियर था एक एमबीए था जाके बिड़ा दिया तो उससे नहीं होता एटम बॉम्ब बना के पूरे दुनिया का विनाश करने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग इसीलिए केवल ऐसे थोड़े पढ़े लिखे बंदा अच्छा हो गया है और पढ़ाई लिखाई तो करवा दी भैया खाना भी खिला दिया तुमको कपड़े लत्ते भी कर दिए जरा अंजलि माँ जैसे को भी देखो हाँ, पवन देवनाओं को भी देखो उनकी सेवा योगदान लालन पोषण बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य होता है कलाकार की तरह आप जीवन तराशते हैं इसीलिए हनुमान जी को देखते समय सबसे पहले प्रणाम उनकी माता जी और पिताश्री को करते हैं आगे यहां बढ़ते हुए हम लोग देखें तीसरी जो है चौपाई में महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग अब हनुमान जी का अपने व्यक्तित्व के ऊपर यहां तीसरी चौपाई में चर्चा चालू होती है कैसे हैं हनुमान जी बोलते हैं एक तो बहुत वीर है महावीर तो वीरता वीरता अंदर बल रहता है और ये बहुत बलवान है विक्रम वैलर उनमें बहुत ही अंदर उत्साह दबंगता जो बोलते हैं उसको बोलते हैं दबंग जो है ना पिक्चर विक्चर में शब्द आता है उनको दबंग वबंग क्या होता दबंग है ये हनुमान जी विक्रम और बजरंगी शरीर उनका वज्र जैसा है ऐसे हनुमान जी जिनका शरीर बहुत बढ़िया सुंदर स्वस्थ बलवान जिनके मन के अंदर विक्रम मन के गुण होते हैं मन के अंदर उत्साह उमंग निडरता बड़प्पन निश्चिंतता रास्ता निकालने का मन के अंदर निश्चय जो बहुत ही ऐसे विक्रांता लोग होते हैं ना वो हार नहीं मानते कोई बहुत ही महान फौजी लोग हो पूरे विश्व को जीतने वाले हो सिकंदर आदि जैसे भी हो उनके अंदर ये गुण होता है वो हार नहीं मानते हैं और रस्ता निकालते हैं ऐसे लोगों को बोलते हैं ये बड़े विक्रांत लोग हैं हनुमान जी जो है उनको ये नाम दिया जाता है कि ये विक्रम है ऐसे लोगों को परिस्थिति जो भी आ जाए चुनौतियां जो भी आ जाए और कई बार चुनौतियां भारत भारी पड़ती है हम छोटे पड़ जाते हैं असमर्थ हो जाते हैं लेकिन विक्रांत वो लोग होते हैं विक्रम नामक गुण से युक्त तो वो लोग होते हैं जो हार नहीं मानते भगवान श्री राम ने जिस समय वो रावण के सामने खड़े हुए थे ना तो वो प्रसंग आता है कि विभीषण आते हैं बोलते हैं प्रभु एक हाँ, ऐसी अनुचित लड़ाई है रावण रथी बिरथ रघुवीरा रावण तो रथ पे है सुसज्जित है और आप विरत हैं वो तो अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युक्त है आपके पास केवल एक धनुष बाण है उसके पास कवच कुंडल आदि सब कुछ है सुरक्षा की व्यवस्था है और आप नंगे पैर खड़े हुए हैं वलकल वस्त्र में ऐसे खड़े हुए महाराज जी नॉट फेयर ये लड़ाई उचित नहीं है भाई दोनों समान होने चाहिए तब हो लड़ाई तो मजा रहता है तब तो दोनों के बल की परीक्षा होती है तो उस समय भगवान मुस्कुरा के वही खड़े खड़े देखिए रावण खड़ा हुआ है वो ऐसा समय आ गया हम लोग के वहां पर लड़ाई के मैदान में बड़े बढ़िया बढ़िया उपदेश निकले हैं और ऐसे गीता भी देखो लड़ाई के मैदान का उपदेश है जहां पे दोनों सेना खड़ी रहती है हम तो जब भी गीता के ऊपर प्रवचन करने जाते हैं एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है भाई जी गीता चल रही होगी लोग खड़े रहे होंगे क्या <laughs> अरे समझ में नहीं आता हम लोगों को ये कहानी लगती है कोई सत्ताई नहीं लगती है व्यवहारिकता नहीं लगती है बोला ऐसी कोई बात नहीं भैया पहली बात तो तुम ये सोचते हो कि तुमको गीता पढ़ने में टाइम लगता है इसीलिए भगवान को बोलने में टाइम लगा होगा ऐसा नहीं है आज अगर संस्कृत में भी आप गीता का पाठ करो तो दो घंटे में पूरी गीता का पाठ हो जाता है आपकी सुंदर कांड में ज्यादा टाइम लगता है गीता में उतना टाइम ही नहीं लगता है जल्दी हो जाती है यद्यपि सुंदर कांड अगर हम जल्दी करते हैं तो आधे घंटे में भी हो जाता है लेकिन बहुत ही भक्ति से भजन से और सब चीजों से पूजा पाठ करते हुए आरती वगैरह करते हुए करते हैं तो टाइम थोड़ा लग जाता है वैसे भी गीता के अंदर अगर मात्र श्लोक पढ़े ना उपदेश के आधे घंटे का उपदेश और अर्जुन का व्यक्तित्व तो क्या था जनरल आदमी है अपनी फौज का जनरल है वो खड़े हुए चर्चा कर रहा है तो कौन बोले भैया अभी खड़े रहो जनरल साहब प्लानिंग कर रहे हैं तो पांडव लोग इस चक्कर में नहीं जाएंगे और कौरव लोग तो भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि उनकी सेना लाए थे तो बड़ी इज्जत थी उनकी नारायण की सेना तो कौरवों के पास खड़ी थी तो अकेले खड़े हुए थे यहां पे रथ रहे थे और दोनों के प्रति उनका आशीर्वाद भी था निष्पक्ष रहते थे सदैव और उस कौरवों ने देखा कि अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया है हमने रुको यार बगैर लड़े जीतने वाले हैं अर्जुन ने अपना रथ छो अपना धनुष छोड़ दिया है गांडीवम संस्कृते हस्तार हाथ से गांडीव धनुष छूट चुका है वह कहा मारा मारी करे वो पहले खत्म हो गया तो वो इसलिए नहीं बढ़ रहे थे और इस चक्कर में आधे पौन घंटे की कुछ चर्चा गुफ्तगु हो रही थी और इतने में उन्होंने भगवान ने अर्जुन को ऐसा खड़ा कर दिया ऐसा सब शोक मोह दूर करके अपने कर्तव्य को सामना करने के लिए उत्साह और उमंग से युक्त करके खड़ा कर सुंदर उपदेश और वही उपदेश राम जी भी विभीषण को देते बोलते विभीषण चिंता मत करो वो तो भैया कोई और ही रथ होता है जिस रथ के ऊपर बैठ के लड़ाई जीती जाती है तुमको दिख नहीं रहा है वो उसने हाँ प्रभु दिख नहीं रहा है इसीलिए तो चिंतित हो बोलते अरे हम हाँ है ना मैं हूं ना हम बताते हैं तुमको वो कौन सा रथ है और भगवान ने उनको फिर एक धर्म रथ का परिचय दिया मतलब तुम अगर देखो रावण इस समय धर्म रथ पे नहीं बैठा हुआ है और हम जो है ना धर्म रथ पे बैठे हुए हैं वो तुमको दिख रहा है कि नहीं नहीं भगवान हमको तो घोड़े दिख रहे हैं हमको तो धनुष बाणी दिख रहे हैं हमको तो कवच कुंडली दिख रहे हैं बोलते हैं हाँ नहीं दिख रहा है ना इसमें अज्ञान के वजह से ही चिंता होती है मोह के वजह से ही शोक हुआ करता है इसलिए देखो जरा और वो वहां बताते हैं कि देखो ये जो अपना जीवन के मूल्य होते हैं ना उसमें हम युक्त हो शौरज धीरज तेही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका तो ये हमारे जीवन रूपी रथ में जो सत्य शील हाँ, धीरज शौरज बोलते हैं चलो ये पहिए देखो जरा जिस पहिए से गाड़ी आगे चलती है ना और पहिए होते हैं शौर्य और धैर्य के शौर्य बोलते हैं आगे बढ़ने का उत्साह और धैर्य बोलते हैं विघ्नों के समय थोड़ा ब्रेक मार के सोचने की बुद्धि ब्रेक मार के आइडिया में ड्रॉप करना जानी नहीं है ब्रेक मार के रास्ता बोलो वैकल्पिक रास्ता क्या है वैकल्पिक रास्ते के चिंतन की जो वृत्ति होती है वो आदमी रुक जाता है थोड़ी देर तक तो पहुंचूंगा तो है ही महाराज जी भगवान पानी बरस गया है वैष्णो माता जी पहुंचूंगा तो जरूर अभी आते पे कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं वो वैष्णो देवी गए थे ऐसा भयंकर बारिश वारिश ओले ओले सब आए और बाद में खबर मिली कि आतंकवादी भी पहुंचे हुए अब वहां पे हमारी परीक्षा होती है शिक्षा में क्या विचार है आइडिया ड्रॉप करें कि चले आगे तो जिसके अंदर धैर्य नामक और शर्व नामक के दो पहिए जिसके पास है ना वो हार नहीं मानते तो नहीं देते रास्ता निकालेंगे बुद्धिमत्ता से निकालेंगे अंधविश्वास अंध जोश भी नहीं रखेंगे लेकिन रास्ता मिलेगा बीमारी किसी को हो गई है बड़ी भयंकर बीमारी है ये थोड़ी बीमारी हो गई चलो खत्म हो गया क्या करो तैयारी करो क्रिया करो अरे यार ये अच्छी बात है हाँ? बीमारी हो गई तुम अभी चालू हो गए को अंतिम संस्कार करना है कहाँ करें जरा वो बुकिंग करो जाके उस जगह की शर्म करो भैया हाँ? अभी तो उसको ठीक होने की गुंजाइश है बीमारी के समय भी ठीक होने का उत्साह उमंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विघ्न है बहुत सारे तुम रास्ता निकालते हैं शांति से विचार कर इसको बोलते हैं धैर्य धैर्य और शौर्य इन दोनों को मिला के विक्रम नामक गुण बनता है उसके अंदर विक्रम होता है वो विक्रांता होता है वो आगे बढ़ता है सदैव ये गुण होते हैं ये क्वालिटीज होती हैं जो आदमी को रास्ता निकालने के लिए जो प्रेरणा दे देती है वो खाक से आशियाना बना देते हैं ऐसे लोग क्योंकि हार नहीं मानते एक बार संकल्प कर लिया तो कर लिया फिर होल के रहेगा ये और ये बाकी तो जितने भक्त लोग हैं ज्ञानी लोग हैं तो करते ही हैं राक्षस लोग भी जोड़ते थे भगवान यही कुछ तो चाहिए हमको यही मांगो और नहीं कुछ चाहिए दृढ़ निश्चय उसके लिए लगे रहना मन का गुण होता है महावीर विक्रम बजरंगी देखिए जो तीन शब्द है ना ये बड़े महत्वपूर्ण है ये तीन अलग अलग धरातल के हैं महावीर जो होता है वो आत्मबल का सूचक होता है वीरता कहां होती है इंसान की वीरता जो है ना कोई शरीर की नहीं होती है अगर वीरता शरीर की हो तो गुंडे लोग सबसे ज्यादा वीर होंगे जो आदमी बहुत ही शरीर वरीर को उसने लंबा चौड़ा कर लिया वो वीर होंगे ऐसा नहीं होता है रावण बहुत ही वीर हो जाता वैसा वीरता नहीं है जैसी राम जी में है तो वीरता जो है वो आत्मबल कई बार बड़े दुबले पतले कोई कई बार एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया ना वो झगड़े हो जाते हैं कई बार दुबली पतला सा एक आदमी आता तेजी से और ऐसा नेतागिरी करता है सब लोगों को लाइन पर लगा देता है उसके अंदर कुछ बल है अंदर उत्साह होता है तो आत्मबल जो है ना वो वीरता का सूचक होता है हम लोग एक उपनिषद है जहां बोलते हैं उसका नाम है कठोर उपनिषद कठोपनिषद वेदों का वो एक प्रसंग आता है जिसमें बोलते हैं देखो वास्तविक बल केवल आत्मा से आता है ये बात पहले समझ लो जीवन में बहुत आवश्यक है नहीं तो भ्रम हो जाएगा तुमको तुमको ये लगेगा कि हमने कोई बाहर की किसी नेता ने अपनी भीड़ भाड़ जमा कर ली वो बलवान हो जाएगा नहीं हो गया है तो बड़े कमजोर हो गए जो अनेकों चीजों के ऊपर आश्रित होकर बलवान्वित महसूस होता है ना वो कमजोर होता है सही किसी के ऊपर भी आश्रित होके तुम अगर बलवान हो तो तुम खुद अपने अंदर कमजोर हो इसीलिए तो आश्रय लेने की जरूरत पड़ रही है तुमको तुम्हारे पास अनेकों लोगों का बल हो परिवार भरा बोला हो बहुत अच्छी बात हमारे मित्र वगैरह सब अच्छे हों साथ में हों बहुत अच्छी बात है हमारी पार्टी बहुत बड़ी है आज अपने अखबार में पढ़ा कि जो भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और लोगों ने बताया मेरी पार्टी जो भी उसका भी सदस्य होंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उससे बल मिलता है लेकिन अगर पार्टी हार गई तो अगर पार्टी ने तुमको निकाल दिया तो अगर तुम योगेंद्र यादव बन गए तो कल जो है ना योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण जी आपकी पार्टी से निकाल दिए गए जो बहुत ज्यादा दबंग बन रहे थे आज कितने कमजोर हो गए अनाश्रित हो देखो अच्छा है जब लोगों का बल मिलता है ना तो ठीक है बड़ी कृपा है कुछ कार्य सबके साथ नहीं होने चाहिए लेकिन ये नहीं भ्रम रखना कि बड़ा बलवान आदमी है देखना आना चाहिए हम लोग ये देखते हैं कि जो किसी चीज के साथ ना होना तब बलवान हो वो असली उसके अंदर का बल है बलवान को पहचानना आना चाहिए बलवान बाहर के ऊपर आश्रित होकर बलवान नहीं होता है अपने अंदर से बल होता है महावीर ये आध्यात्मिक बल का सूचक है विक्रम ये मन के अंदर गुणों के बल का सूचक है और बजरंगी ये शरीर के बल का सूचक है हनुमान जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि उन्होंने तीनों धरातल के ऊपर बल का संचार करा उत्पन्न करा उसे इसीलिए शरीर को भी बलवान बनाने के लिए बड़ी मेहनत रहती है भैया अभी वो तो जो आदमी मोटा हो जाए उससे पूछो कि पतला होने के लिए क्या कर रहे हो अरे महाराज जी सब कर रहे हैं वो ही नहीं रहे उजल जाते हैं वैसा नहीं होता है वो खाना भी क्या करें वो हो जाता है त्योहार आगे खा लेते हैं डाइटिंग नहीं होती है कमजोर पड़ जाते हैं अगर कोई शरीर को भी अपना सुंदर बनाता है तो तपस्वी तो आदमी है रेगुलर नियम रख के योगासन करे प्राणायाम करे वॉक के लिए जाए जिम में जाए जो भी आजकल के हिसाब से है नियम का पालन करे ये अंदर का बल है निश्चय है फिर शरीर का बल अच्छा होगा शरीर का बल एक बाहरी लक्षण है मन के बल का उसने दृढ़ता का परिचय दिया और उसके साथ साथ जो है वो आत्मबल का अंततः संचार होना चाहिए ये तीनों अलग चीज है और तीनों अलग अलग स्रोतों से आती है शरीर का बल जो है वो हमारे पुरुषार्थ से हो मन का बल संस्कार से होता है और आध्यात्मिक बल की शिक्षा से होता है शिक्षा संस्कार और अपना पुरुषार्थ जब इन तीनों चीजों का सुंदर प्रयोग होता है उचित प्रयोग होता है तब जाके हनुमान जी का निर्माण होता है महावीर विक्रम बजरंगी अंदर से भी ऐसे निडर निश्चित हैं मन के अंदर भी विक्रम जैसे गुण विद्यमान है और शरीर भी बलवान हो जाता है इसीलिए जो जो हमको जो है आत्मबल देने के लिए मन के अंदर भी सुंदर गुणों का संचार करने के लिए और शरीर को भी स्वस्थ सुंदर और बलवान करने के लिए योगदान देते हैं उन सब का भी हम आशीर्वाद देखें अपने जीवन में यहां पे हम लोगों ने पिछली चौपाई में ही हनुमान जी की माता जी का योगदान देखा है और यहाँ पे माता जी का पिताजी के योगदान के बाद हमारे गुरु लोग परिवार सब लोग उनका भी आशीर्वाद दिखाया जा रहा है देखिए कोई भी आज हम लोग के हिंदू धर्म में तर्पण आदि जब करता है तो तीन तर्पण होते हैं तीन चीजों के प्रति हम अपनी धन्यता भी व्यक्त करते हैं देवताओं को तर्पण दिया जाता है ऋषियों को तर्पण दिया जाता है और पितरों को तर्पण दिया जाता है और ये तीन चीज ही हमारे जिनेव के तीन धागे के सूचक हुए और जने हुए आदमी को तभी दिया जाता है जब वो इस तीन दृष्टि से तीन स्रोतों से हमारे ऊपर बरसती हुई कृपा की संवेदना रखता है इसकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए क्या वेरी ब्लेसेड हम बहुत ही जो है कृपा के पात्र हैं हमको आज ये सब ज्ञान मिला हुआ है जीवन में इतने सुंदर अवस्थाओं तक जगने का जीवन की पूरी पहेली को खोल देने का हमारे संतों ने कितना कुछ हमको दे रखा है हम लोग का प्रॉब्लम तो यही रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का हम्म? अनेकों लोग हैं हम जानते हैं सब लोग घर में किताबें जब भी मौका मिलते ला के रखते रहते हैं एक दिन पढ़ूंगा जरूर अब वो टाइम कब आए वो पता नहीं लगता है अनेकों का घर में उपनिषद होगी गीता भी होगी हम्म? लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है इन चीजों का आपकी श्रद्धा है आपको विश्वास है बहुत अच्छी चीज है अहो भाग्य है और हमारे जैसे लोग जो इसी शास्त्रों के ज्ञान के लिए समर्पित हैं हमने अपना जीवन ही इसमें लगा रखा है हमारे में सभी प्रॉब्लम रहता है क्या क्या पढ़े महाराज ये भी रह गया वो भी रह गया ये भी उपनिषद ये भी ग्रंथ ये भी वेद ये भी गीता फराने रामायण ये बात धीमे धीमे बोलते हैं भैया इतना ही पढ़ूंगा इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल पड़ेगा अहो कितना कुछ यहाँ रिसर्च करी गई कितना कुछ चिंतन करा गया उन सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम वही लोग हमारे अंदर आत्मबल का संचार करने के लिए मन के अंदर सुंदर गुणों का संस्कार करने के लिए और शरीर को भी बलवान्वित करने के लिए इन सब का बहुत बड़ा योगदान इसीलिए अपने माता पिता को भी प्रणाम करके जिन्हें को भी हाथ में लेके देख लो भैया हाँ, कितनी कृपाएं बरस रही है और जिस समय आपका दिन का प्रारंभ ही इस विचार से हो कि ठीक है अभी हमको कमियां होंगी हमारे अंदर चिंता होगी लेकिन कृपा की वृष्टि में कोई कमी नहीं है एक बाबा जी थे ये भजन गाया करते थे दौर में थे उधर नंदा नगर साइड से आते थे राम रस पर से मन चातक क्यों तरसे बूंद बूंद में कृपा हरि की अंदर से बरसे तू क्यों खड़ा ओट में पगले भीगन के डर से काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से प्रेम नीर में भीग बाल रे भीतर बाहर से बड़ा अच्छा लगता है हमको भजन आज भी अच्छा लगता है जब भी मौका पड़ता है गुनगुनाते हैं राम बरस बरसे ये भजन हमको इस चीज की याद दिलाता है कि कितने स्रोतों से कृपा बरस रही है हमारे माता पिता की कृपा बारंबार उनको नमस्कार है प्रणाम है यद्यपि जो आदमी बाबा जी बन जाता है उसका वर्ग भी पाता माता पिता के लिए वो भी समझते हैं हम भी समझते हैं लेकिन मन में भावना जरूर बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते इस आश्रम की मर्यादा है रिश्ते नातों से दूर रहो क्या करें लेकिन उनका जो योगदान है जीवन में अपना है हमारे शिक्षकों का योगदान हमारे आचार्यों का योगदान और भगवान के अनेक अनेक स्रोतों से देवताओं की कृपा सत्संग उसको बोलते हैं जिस समय कोई व्यक्ति अपने जीवन पे बरस की कृपा को देख पाए कृपा तो बरस रही है उसकी कमी नहीं है हम ले नहीं पा रहे ये प्रॉब्लम है कृपा ले नहीं पा रहे मगर है कृपा बरस बहुत रही है इसमें कोई शंका जो व्यक्ति अपने जीवन पे बरसती हुई कृपा को देखने लगे उसकी यात्रा सात्विक जीवन की यात्रा का श्री गणेश हो जाता है जो व्यक्ति अपने अंदर अभाव देखता है अभी ब्लेसेड नहीं है अभाव है वो राजसी बन जाता है उसको जुगाड़ करना है ये कर लेंगे वो कर लेंगे फिर हो जाएगा वो राजसी हो जाता है वो रावण के पथ पे चलेगा वो बाहर से धन बल आदि का संचय करके ही बलवान्वित महसूस करता है उससे अभाव से होता है सात्विकता जो है सब प्रकार के गुणों की खान होती है भक्ति हो जाएगी ज्ञान हो जाएगा स्वस्थता हो जाएगी प्रसन्नता हो जाएगी कृपा हो जाएगी सब कुछ सात्विकता से ही जुड़ता है उसकी प्राप्ति के लिए धन्यता से जीवन होना चाहिए बस इतना दे दियो नमो नमः नमो नमः बार बार प्रणाम कितनी कृपा कर आज के कलयुग में भी कृपा हमारे ऊपर है बहुत सारी और अगर कुछ कमियां हैं ना तो उन चीजों की कृपा भी नहीं दिखाई पड़ेगी वो भी देख लेंगे कृपा बरस रही हर स्तर पे कृपा बरस रही ये तीन शब्द जो कि काफी सार गर्भित हैं अभी हम बहुत सी सतही चीजें बता रहे हैं इसके बारे में अगली बार कुछ और रहस्य उद्घाटित करेंगे इसकी चर्चा करेंगे ये सोच भी देखिए कितनी नवीन लगती होगी कि ये महावीर विक्रम बजरंगी ये तीन कृपा के स्रोत हैं तीन धरातल के सूचक है ये और हनुमान जी के ऊपर ये पूर्ण कृपा तीनों धरातल पर विद्यमान है आध्यात्मिक बल है दैवी गुण है और शारीरिक बल है महावीर विक्रम बजरंगी और देखो हनुमान जी का व्यक्तित्व हमको दिखाता है कि बलवान और स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में धन्य धन्यता इन चीजों से होती है स्वस्थता होती है इसीलिए इन चीजों को ही जो है वहां महत्व देते हुए प्राथमिकता इनको बनाते हुए इस दिशा में कार्य करना चाहिए ये हमको हनुमान जी से शिक्षा मिलती महावीर विक्रम बजरंगी और एक बार खुद इस प्रकार से धन्य होते हैं उनके ज्ञान का उनको लाभ मिलता है तभी तो दूसरे के ऊपर भी आशीर्वाद दे सकते हैं कुमति निवार सुमति के संगी हम खुद जो है कुमति से पहले दूर हो जाए तभी तो कुमति दूसरे से निवारण करेंगे अब किसी ने बोला महाराज जी समस्या यार तुम्हारी समस्या क्या तुमने हमारी समस्या कभी समझी है क्या तुम्हारे बताए क्या क्या समस्या हमारे ऊपर चल रही है आजकल इतने सारे रगड़े चल रहे हैं हम तुम्हारी समस्या सुने अब जिसको खुद ही पचास समस्या का संताप हो रहा वो किसकी समस्या के समाधान अगर कोई दूसरे की समस्या का समाधान कर रहा है निवारण कर रहा है तो आप सोचिए उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कुमति का नाम निशान नहीं तभी ये कार्य होता है इसीलिए मूल जो है वो रहस्य उन तीन शब्दों में है महावीर विक्रम बजरंग ये तीन सूत्र हैं अब आप लोग एक महीने भर तक इसके ऊपर विचार करो बहुत सुंदर है आप लोग पुण्यात्मा लोग हैं आपको बहुत सारे इसके रहस्य मिलेंगे हाँ। डुबकी मारोगे तो मोती बीन के लाओगे लेकिन आपको हम दिशा दे रहे हैं ये बहुत सुंदर शब्द हैं इसके अंदर वो मोती छिपे हुए हैं वो कौन कौन से मोती हैं क्या क्या भाव हैं ये हम लोग का अगले महीने का सत्संग श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम नमः पार्वती पदे हर हर नर्मदे